पूछिए कि ये भी बता दो कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा कयामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह ताला के कोई मबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल करो क्या तुम देख नहीं रहे हो